अच्छा देखूं तो बल तेरा यह कह अनुमत से चिपट गया रघुबर का प्यारा कपिवर भी आगे बढ़ उससे लिपट गया अब ताल ठोक कुश्ती ठहरी दोनों ही योद्धा भिड़ते हैं होता है ज्ञात दूर से यह कज्जल सुमेर गिर लड़ते हैं झटपट झट झलझला झट झूम झाम जक झोर दाम पेच करने लगे दोनों दोनों ओर दोनों ही बाके योद्धा थे दोनों ही मल्ल गुमाने थे दोनों ही वीर केसरी थे दोनों ही अतिवरदानी थे लड़ते लड़ते दोनों ही को एक घंटे का अवसर बीता इस जोड़ तोड़ का जोड़ लड़ा कोई न गिरा दिन भर बीता लड़ते लड़ते थक गए जब दोनों बलवीर इधर उधर को हट गए होकर श्रमित शरीर रावण बोला फैसलाम हुआ नहीं हनुमंत अच्छा मुक्का मार कर करना है अभयंत रावण से बलवान का खाकर मुष्टिक एक एक हाथ से हनुमान ने दिया भूमि पर टेक दस कंधर लज्जित हुआ देख जब यह ढंग इतने में कर गर्जना बोल उठे बजरंग तेरा बल निष्फल हुआ राम कृपा से आज मेरा मुष्टिक देख अब असुरों के सिरताज मुक्का मारा किसने कह जय जय रघुनाथ राक्षस मूर्छित हो गया घूम गए दसमाथ कुछ क्षण यही अचेतन फिर बोला दस शीस जननी तेरी धन्य है हे बलशाली कीस गंधर्व देवता नर किन्नर मेरे बल से थर्राए हैं मेरे बल से थर्राए हैं पद दलित किया मैंने उनको जो मेरे सन्मुख आए हैं पद दलित किया मैंने उनको जो मेरे सन्मुख आए हैं प्रत्येक वीर इस दुनिया का बल से मेरे आधीन हुआ धिक्कार मुझे बलशाली हो इस भात चेतना ही न हुआ धिक्कार मुझे बलशाली हो इस बात चेतना ही न हुआ कपि बोले तुझको नहीं मुझको है धिक्कार अब तक तू जीता रहा खा मुक्के की मार यदि मेरा मुक्का पड़ जाए तो पर्वत पिस जाए पल में वह बल है मेरे मुक्के में धरती धस जाए रसातल में है खेद वही मुक्का खाकर तू मेरे सन्मुख जीवित है तू क्यों लज्जित है दस कंधर हनुमान स्वयं ही लज्जित है रावण बोला वान रे तू करता क्या व्यंग आज नहीं तो फिर कभी कर दूंगा मद भंग अब तो सायंकाल है युद्ध हो गया बंद कल प्रभात तुम सभी का काटूंगा भवफंद हुआ दूसरा दिवस तो रावण होकर क्रुद्ध लगा दिखाने वीरता कर नाना विधि युद्ध काप उठा बानर कटक ऐसे छोड़े वान लाशों से पटने लगा वहरण का मैदान पतझड़ के मौसम में जैसे वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं त्यो ही रावण के वाणों से वानर पर वानर गिरते हैं कपिदल में हाहाकार हुआ हे रघुकुल नाथ दुहाई है निश्चय नहीं प्राण चर है हम सब पर विपदा आई है देखा जब कटने लगा वानर कटक तमाम अपने आसन से उठे रघुकुल भूषण राम भक्तों की आरतवाणी को सुन सकते हैं श्री राम कहाँ जब संकट आए दासों पर तो स्वामी को विश्राम कहाँ अपने जिस आदत के कारण साकेत चीर सागर छोड़ा पृथ्वी पर नर हो कर आए वैकुंठ लोक सागर छोड़ा वही स्वरूप वही स्वभाव इस अवसर पर हो प्रबल उठाओ सर्वे निसंग में कड़क उठे दिल भी पहलू में मचल उठाओ बोले हे लखन संभाल जाओ लंका पति बढ़ता आता है राक्षस कपियों को कर परास्त अब हम पर चढ़ता आता है यही अवसर तो है लक्ष्मण रघुवंशी कहलाने का है यही तो समय विश्व भर को सत की जय दिखलाने का है रण में जब दुष्ट राक्षस के वध करने का विधान होगा वन में की हुई प्रतिज्ञा का तब पूरा अनुष्ठान होगा यह कह शांत स्वरूप ने निरखा तीर कमान मानो शांत समुद्र में आया कुछ तूफान जग के राजा ने सागर तट सिर जटा झूठ उठा कर बांध बांधा कसकर निसंग यह धनुष बाण वलकल का पटकस कर बांधा तब से प्रभुवर का छात्र वेश निरखा उस समय पवन सुत ने छविपत के छवि का महालाभ लूटा उस समय पवन सुत ने वह शांत रूप अद्भुत अनूप वह जटा जूट वीरासन वह धनुष बाण वह भुज महान रवि के समान यह दीप्त बदन जिनकी आँखों ने देखा है वही यह लाभ जानते हैं निज जन्म और निज जीवन को सुखदायक सफल मानते हैं गुस्से के चिन्ह न थे मुख पर प्रभु मंद मंद मुस्काते थे आखरी करारी चितवन से रावण पर दृष्टि जमाते थे इतने ही में हो गया दृश्य और का और रावण कुछ बकता हुआ आ पहुँचा उस ठोर हाथों से धनुष बाण छूटा जब सन्मुख आया रघुवर के रह गया मूर्त के तरह खड़ा दर्शन कर उन विश्वम्भर के पिछले जन्मों का ध्यान हुआ या नए लाभ पर दृष्टि पड़ी लहला उठा वह सूखा बन जब नैनामृत की वृष्टि पड़ी तब उस बहरी भक्त का प्रभु ने खींचा ज्ञान भूला पिछले बात सब छाया फिर अभिमान बोला खेलो न आग से तुम यह आग तुम्हें खा जाएगी चिंगारी एक चटक उठी तो प्राणों पर आ जाएगी लक्ष्मण रह सके न मौन यहाँ बोले तो थी यह धमकी है सूरज वंशी अंगारे हैं चिंगारी क्या कर सकती है लखन लाल की बात सुन गरज उठा दस भाल बोला तो आवो लड़ो हे छत्री के लाल राक्षस द्वारा आमंत्रित हो भगवान युद्ध करने उठे या भवपति भूपति त्रिभुवनपति सब भूमि भार हरने उठे हाथों में धन सबाण लेकर तक्षण कौशल के भूप चले भक्तों का कष्ट मिटाने को अति आतुर शांत स्वरूप चले दस कंधर तो रथी था पैदल थे रघुवीर भक्त विभीषण देख यह बोला वचन अधीर हे नाथ न पद में पदत्राण चढ़ने को रथ भी पास नहे पैदल जेते रथ वाले को होता मुझको विश्वास नहीं जिसके बल से धरणी कंपित पाताल स्वर्ग थर्राते हैं उसको किस बल पर पैदल ही रघुनाथ जीतने जाते हैं किस बल पर कुछ मुस्कुरा बोले आनंद कंद रथ है हम पर धर्म का इससे हम निर्धन विजय हो ता है जिसकी और ही वह रथ कहलाता है विजय होता है जिसके और ही वह रथ कहता है वह रथ इन बाहरे बातों से रखता कुछ न नाता है रखता कुछ न नाता है है उसके शुद्ध पहिए शूरता और वीरता दोनों विजय ही की ध्वजाव रथ सदा निर्भय उड़ाता है दमन बल ज्ञान परहित नाम वाली चार घोड़ी हैं क्षमा सम ताकि राक्षसों से क्षमा सम ताके राक्षस से रथी रथ को चलाता है सुमति और दान यस पर साहवर भी ज्ञान धनवा है नियम तय यम है सर निर्मल हृदय तर कस सुहाता है भजन है थे उसका कवच है बेप्रपद पूजा धुरा उस धर्म के रथ का सदा सत पथ दिखाता है यह रण तो क्षरण है बात ही क्या इसके राधे चाम सखे जिस पर यरत है वह जगत को जीत जाता है विजय हो ते है जिसके ओ रही वह रथ कहाता है वरथ इन दाहरी बातों से रखता कुछ न नाता है रखता कुछ न नाता है रखता कुछ न नाता है